我。 अड़सठ सत नंबर के श्लोक उनसत्तर नंबर के श्लोक तक विचार हो गया है जिसमें भगवत गीता का जो उपदेश था युक्त अध्याय के एकादश श्लोक से लेकर के अष्टादश अध्याय के छियासठ श्लोक तक उपदेश पूरा हो गया उसके पश्चात एक शपथ ग्रहण कराई भगवान ने जमते ना तपस्काय ना आय कदाचना न चाशु कृष्ण जमा ये चार व्यक्ति को कभी नहीं ना कहना चाहिए गीता को हम्म। तपस्वी न हो मेरा भक्तन हो भगवान का भक्तन हो तो विष्णु के भक्त बना हो सुनना नहीं चाहता हो अथवा मेरी निंदा करता हो इस चार व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए हाँ। उसके बाद वक्ता की प्रशंसा कीजिए गीता का उपदेश करता हो वर्तमान में दोष लोगों के द्वारा उसकी प्रशस्ति की प्रशस्ति की भगवान प्रस्तुति की यम परमम गुह्यम मदभक्त सुविधाश्यति भक्ति मई परम कृत्वा नामे ऐसे ने कहा न तो तस्मान मनुष्यसु कश्चिन में प्रिय करता उस मनुष्य में उससे बढ़कर मेरे प्रिय करने वाला कोई नहीं सबसे बड़ा कार्य करने वाला गीता सुनाने वाला भविता न जब तस्मान अन्य प्रियतन प्रियतन भूमिका दूसरा कोई मेरे लिए प्रिय भी नहीं होगा उसके बाद कहा मैं अति प्रिय मानता हूं उसको जो गीता सुनाता हो ऐसा भगवान ने वक्ता के तो शुरू से कहा अब आगे बोलना चाहते हैं जो अध्ययन करता हो प्रतिदिन गीता का दूसरे को सुना नहीं सकता किंतु अपना अध्ययन करता हो विद्यार्थी अवस्था में सुनता हो उसकी प्रशंसा है इसकी ये कहना है ये कहना कहते हैं संप्रदाय प्रवक्त हो सर्वाधिकम फलम ये कथन हो गया है जो परंपरा का कथन करने वाला जिस परंपरा से गीता सुनी है उसी परंपरा से सुनाने वाला ये संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा वो संप्रदाय कहते हैं सम्यक प्रदान करना क्या इसका भाष्य है इसका भाष्य बाकी है अच्छा। न तो तस्मात छात्र संप्रदाय तो मनुष्य सुना वो जो शास्त्र संप्रदाय को करने वाला व्यक्ति होगा ना जो माने परंपरा चला रहा है हम्म। माने गीता सुना रहा है जो उसके बाद अब मनुष्य सु मनुष्य में मनुष्यावा मध्य ये मनुष्य सु का कश्चिन में मामा प्रिय तमह का मेरे लिए कोई अतिशय प्रिय करने वाला कोई नहीं होगा उससे बढ़कर मैं उसी से प्रसन्न होता हूं गीता सुनाने वाले से कहा अतिशय प्रियकृत प्रियकृत ही होता अतिशय प्रिय करने वाला मेरे लिए वही होता है तथो अन्य अन्य कोई प्रियकृतम नहीं है मेरे लिए वही है सब सबसे बड़ा प्रियकृतम प्रिय करने वाले को प्रियकृत कहते हैं तो प्रियकृत प्रियकृतर प्रियकृतम अतिशय प्रेम मैं प्रिय मेरे प्रिय करने वाला वही व्यक्ति होता है कौन जो गीता सुनाने वाला है और कोई अन्य नास्ती है वो कहा और कोई है ही नहीं प्रेतम व्यक्ति और कोई नहीं रही है इतनी अर्थ यही है वर्तमान से वर्तमान में जो मनुष्य में जितने रह रहे हैं वर्तमान में जितने मनुष्य हैं उनमें से गीता का अध्ययन अध्यापन कराने वाले व्यक्ति को से अतिकृत व्यक्ति प्रियकृतम तो कोई भी नहीं है कोई भी कार्य करता हो न तो भविता न होगा ही आगे अभी भी नहीं है प्रियकृतम और आगे भी नहीं होगा भविष्य भी नहीं होगा अन्य कार्य करने वाला गीता भी सुनाने वाला जितना प्रिय करता है मेरा प्रिय कर्म करता है उतना प्रिय करने वाला कोई आगे भी होगा नहीं लुटलाकार का प्रयोग कर दिया न तो भविता आगे हाँ, होना भी संभव नहीं होगा न तो भविता में भविष्य भी थी भविष्य काल में भी नहीं हो सकता है सब प्रिय करने वाला तस्मात दीप्ति हो अन्य प्रियतर भूगी अश्विन माने प्रियतर मेरे लिए जो प्रिय अत्यंत प्रिय व्यक्ति उससे पढ़कर कोई भी नहीं होगा भविष्य में भी नहीं होगा ऐसे भगवान ने कहा टीका होगी इसके लिए यथाच विद्या संप्रदान मुमुक्षुणा यथोक्त विशेषण पद कर्तव्य इसे विद्या का संप्रदान करना चाहिए मुमुक्षु को करना चाहिए मुमुक्षु के द्वारा विद्या का संप्रदान करना दूसरे को देना चाहिए यथाच इस हेतु तो से भी विद्या संप्रदान मोक्ष यथोक्त विशेषण होते जो तो पूर्वोक्त जो विशेषण वाला भक्त होगा कैसा होगा तो उसको नहीं देगा मेरे मेरे भक्तों को सुनाता हो अन्य को नहीं सुनाता ऐसा ऐसा करके पूर्व कहा था विशेषण जिसका लगाया था उन व्यक्तियों को कर उसके लिए कर्तव्य यही है विद्या संप्रदान करना चाहिए मोक्ष को द्वारा यही है विशेषण से युक्त होंगे भक्त हो तपस्वी हो निंदा नहीं करते मेरी निंदा नहीं करते हो इत्यादि हो सार भर्व होगा उसके लिए कहना चाहिए वर्तमान मध्य वर्तमान में जितने मनुष्य हैं जितने प्रिय होंगे प्रिय तो और भी हैं ध्यान आदि करने वाले योग आदि करने वाले बहुत सारे हैं प्रिय तो, तो अन्य नास्ती व प्रेरित उससे भिन्न कर गीता सुनाने वाले से अन्य कोई अति प्रिय करने वाला नहीं है अति प्रिय प्रियकृतम वही होता है कौन होता है प्रियकृतम अन्य प्रिय हो सकते हैं प्रिय प्रियकृत हो सकते हैं प्रियकृतर हो सकते हैं प्रियकृतम नहीं ना भी अतिथेशु पूर्व में नहीं रहे कोई ऐसा प्रिय करने वाला तादृक कश्चित आशित उस प्रकार के व्यक्ति कोई पहले भी नहीं रहा ऐसा प्रिय करने वाला मेरे लिए यही है तस्मात विद्या संप्रदाय कर तो सकाशात रहा तस्मात का अर्थ होता है विद्या संप्रदान करने वाले की अपेक्षा अन्य कोई प्रियकृतम नहीं मेरे लिए सबसे बड़ा प्रियकृत प्रिय कर्म कर मेरे लिए जो इष्ट कर्म करने वाला वही है जिससे मैं खुश होता ध्यान निष्ठ से श्रेष्ठत्व भी यद्य भी ध्यान निष्ठ जो उपासना में लगा चिंतन में लगा यदि श्रेष्ठ है व्यक्ति प्रिय है वो किंतु प्रियकृतम नहीं ध्यान निष्ठ से श्रेष्ठत्व भी जो ध्यान निष्ठ होगा चिंतन में निष्ठा रखने वाला जो होगा संप्रदाय प्रवक्त हो संप्रदाय प्रवक्त हो तत्व यस गीता के संप्रदाय के उसके से उससे भी अधिक प्रिय है मेरे लिए ध्यान निष्ठा से भी इस गीता के संप्रदाय मैंने संप्रदान का कथन करने वाला तमत्वात यह श्रेष्ठतम है वह श्रेष्ठ है ध्यान निष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ है किंतु ये श्रेष्ठतम है आप विद्या संप्रदान है प्रवृत्ति इसलिए उचित है विद्या संप्रदान कार्य में प्रवृत्ति उचित है देना चाहिए विद्या देयम विद्यार्थी नाम विद्या छोदम अन्न देयम अन्न छिदात्र कहा है भीते व्यस्ता भयम देयम जो डरे हुए लोग को अभय देना चाहिए भीते व्यस्ता भयम देयम व्याधित व्यस्त तथो सदम रोगी सामने है तो अपने से जो बने कुछ औसत दे प्राथमिक दवाई जो हो सके कुछ दे अधिक न कर सके तो भीते व्यस्ता भयम देयम व्याधित व्यस्त तथो सदम जो व्याधि व्याधि से युक्त है उसको पीड़ा से युक्त है उसको औसत उस प्रकार देना चाहिए ध्येयम विद्यार्थी नाम विद्या विद्या चाहने वाला हो उसको विद्या देना चाहिए ध्येय मन्नम छुदातरे छुदातरे का भूख से पीड़ित व्यक्ति हो वहां जाति पाति कोई देखना नहीं है जो हो सके कुछ देना चाहिए उसके प्राण रक्षा के लिए ये चार बातों के लिए अधिकारी न देखे जो भयभीत हो अभय देना चाहिए नहीं हो डरो पत पीते व्यस्ता भयम ध्येयम व्याजित तथोषधम जो रोग से ग्रसित हो जो हो सके दवाई दो इसमें कोई जाति पाति नहीं देखना अधिकारी नहीं देखना अधिकारी है उस काल में रोग से ग्रसित है तो दवाई का अधिकारी है जो तुम्हारे चौक में दो हम विद्यार्थी इस बारे में कोई जानकारी है कोई जानकारी लेना चाहता हो तो समाज से तुम्हें मिला है जन्म के साथ कोई जानकारी नहीं थी बाद में समाज के द्वारा आया है आज समाज के काम में आ जाए दो यदि जानकारी है तो देयम विद्यार्थी नाम विद्या यदि विद्या चाहता हो तुम्हारे पास यदि है तो दो देयम अन्नम सदात्र भूखा व्यक्ति सामने हो तो अन्न के अधिकारी हो उसको देना चाहिए ऐसा कहा गया है तो विद्या संप्रदाय में हेतु प्रवृत्ति होगी ऐसा कहा संप्रदाय प्रवक्तो सर्वाधिकम फलम देखो सबसे अधिक फल यह संप्रदान विद्या संप्रदान के गीता रूपी जो विद्या है यहाँ उपदेश है इसको संप्रदान करने वाले के सबसे बड़ा फल होता है कहते हैं संप्रदाय प्रवक्तो जो संप्रदान है उसका कथन करने वाला गीता एक दूसरे से एक दूसरे से काल से यहां तक पहुंची हुई है ये संप्रदान करने वाला जो प्रवक्ता है उसका सर्वाधिकम फलम सबके सब बड़ा फल क्या है स्मृति में कहा जाते हैं सबक्ता विष्णु ऋत्युक्त न सब विश्वास दैवतम कहा है वो जो गीता का वक्ता होगा तो साक्षात विष्णु है ऐसा सबक्ता विष्णु जो गीता का वक्ता है साक्षात विष्णु है न सामान्य वह विश्वास दैवतम न ये अंदर देव, देवादिगण नहीं है वो इंद्र वरुण कुबेर आदि नहीं है वो ये छोटे हैं वो साक्षात विष्णु है वो गीता का वक्ता अन्य तो छोटे छोटे हैं सवक्ता वक्ता विष्णु कुतो वो जो वक्ता कौन वक्ता गीता का वक्ता प्रदान करता विष्णु ऐसा कहा गया उसको न सब विश्व आदि बताऊं जब विश्व अधिदेव सारे संसार के जो देवता हैं वो विष्णु नहीं है वो छोटे हैं वो विष्णु साक्षात विष्णु है कहा हुआ है ये युक्ति से कहते हैं यहाँ सर्वाधिक फल उसी को होगा क्या होगा किसको गीता के प्रवक्ता को कहा संप्रदाय प्रवक्ता संप्रदाय गीता से संप्रदान करने वाले व्यक्ति तो सर्वाधिक फलम सर्वाधिक फल किस युक्ति से कहा कर ऐसा वक्ता विष्णु दुक्तो नस विश्वास इति न्याय इस युक्ति से कहा है उक्ता सर्वाधिक फलम उक्ता सर्वाधिक फल का कथन करके गीता प्रभु का कथन कर संप्रति अब अधुना अब अध्ययतुर विवक्षितम फल जो अध्ययन करता है प्रवक्ता नहीं है अध्ययन करता है उसका भी फल बताया योगी का भाषण जो योगी भी जो तो प्रवचन तो नहीं कर पा रहा है गीता का अर्थ सहित ज्ञान नहीं करा पा रहा है केवल अध्ययन कर रहा विद्यार्थी अवस्था में है तो उसके भी फल है कहते हैं योगी का जो भी यो भी अध्यसते चयम धर्मम संवाद मावयो ज्ञान तेनाहम इष्ट श्याम इति मैं मते अद्वेशते धर्म संवाद धर्मं संवादमावयो ज्ञानैकेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मति यह जो कोई भी हो जो यह आवयो इमं धर्माद धर्मम संवादम अध्यक्षते हम दोनों का आवयो हम दोनों का भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तुम्हारा और हमारा अर्जुन को निमित्त बनाकर बोल रहे हैं आवयो मैंने गुरु शिष्य दो ही होते हैं उपदेश काल में और कोई नहीं होता इसलिए दो ही होते हैं एक सुनने वाला एक सुनाने वाला इसलिए आवयो हम दोनों का आवयो इम धर्मम संवादम धर्मेण प्राप्यम धर्मम जो धर्म से ही प्राप्त होगा हो, होता हो उसको धर्म कहते हैं ये तो संवाद ये बाद कथा है सम्यक बाद है संवाद ना कोई विजिक्षु कथा नहीं है वितंडा कथा भी नहीं गीता में मैंने शिष्य भाव से प्रश्न करना गुरु भाव से उत्तर देना मैंने शिष्य के मन में शांति आ जाती है प्रश्न मिलता है शांति है और कहीं कहीं क्या परीक्षक बनकर प्रश्न किया जाता है विजिशु कथा दूसरे पक्षों को खंडन करना है और अपने पक्ष को सिद्ध कर मनन करना है यह खंडन मनन वाली जो कथा चलती है जहां उसको बीजेपी से कथा कहते हैं अपने पक्ष जीतना है उसने वहां लड़ाई होगी कुछ नहीं होगा लड़ाई होते होते एक पक्ष की जीत होगी अंतिम और एक बितंडा कथा अपना पक्ष बचता है या नहीं बचता उसे ध्यान नहीं देना क्योंकि तो दूसरे ने जो कहा उसको काटना है श्री हर्ष जी खंडन खंड खाते हुए नई आयु को अगर धज्जी उड़ाते हैं श्री जी कश्मीर के पंडित हैं वो वेदांति हैं अद्वैतवादी हैं और द्वैतवादी के धज्जी उड़ाते हैं कहा खंडन खंड खाते हैं जो आचार्य वेदांताचार्य करने वाले का आचार्य के ग्रंथ में पढ़ा जाता है तो आचार्य परीक्षा काल में ग्रंथ आता है उस स्थिति का है ग्रंथ तो यहां संवाद कहा सम्यक बाद संवाद बाद कथा है यहाँ से भाव से चल रहा है कथा अर्जुन पूछ रहा है भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन की संतुष्टि है जल्प कथा वही बीजू कुछ कथा तो कहा यह जो व्यक्ति आवयो इमम धर्मम संवाद कहा ये जो धर्म धर्म से ही प्राप्त होता हो उसको धर्म कहते हैं धर्मेण प्राप्त धर्म धर्म से ही जो प्राप्त होता हो धर्म अर्थ धर्म पथ्यर्थ अर्थात अर्थ न्यायात अनपेते ऐसा सूत्र व्याकरण है धर्म शब्द पथी शब्द अर्थ शब्द न्याय शब्द इनसे यद प्रत्यय होकर के धर्म्यम अर्थ्यम पथ्यम न्यायम न्याय के द्वारा जो प्राप्त हो उसको न्याय बोला जाता है धर्म से जो प्राप्त होगा उस धर्म बोला जाता है अर्थ से जो प्राप्त हो अर्थ्यम माने पथ्य से प्राप्त पथ्य बोलते हैं पथी से प्राप्त होता मार्ग से प्राप्त होता हो दवाइयों का अपने अपने मार्ग होते हैं उसको पथ्य बोलते हैं यह दवाई पथ्य है तो यह धर्म बना है यह धर्म से प्राप्त है संवाद सुनना पढ़ना बिना पूर्व धर्म के धर्म के पुण्य के बिना गीता का अध्ययन करना संभव नहीं है यह कहना चाहते हैं यह जो कोई भी आवयो हम दोनों का कृष्ण और अर्जुन जो है भगवान कृष्ण बोल रहे हैं इमम धर्मम संवादम कहते हैं धर्म से प्राप्त होना इस संवाद को जो तुम्हारे हमारे जो प्रश्नोत्तर हुआ है यहाँ ये संवाद है गुरु जी स्वभाव से यहाँ ये संवाद को यह अध्यक्ष थे जो व्यक्ति अध्ययन करता हो अधिपूर्वक इन अध्ययन धातु है दृढ़ लकार का प्रयोग है दृढ़ जो अध्ययन करेगा ये बोलते हैं अध्यक्ष जो अध्ययन करेगा इस संवाद को गीता तो में पूरे भगवान कृष्ण अर्जुन का संवाद है और कुछ नहीं है बात कथा है तो इस संवाद को हम दोनों का जो संवाद है धर्म से प्राप्त पूर्व धर्म के पुण्य कर्म के बिना गीता पढ़ना नहीं मिलेगा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से होता है ज्ञान है गणते ना हम इष्टस्यामी देवी मेरी बुद्धि ऐसे कहती है मेरा मंतव्य है भगवान कहते हैं हस्ताक्षर करते हैं उसने मेरे लिए ज्ञान के द्वारा पूजित पूजन किया ऐसा मैं मानता हूं ज्ञान यज्ञ तेना ये जो अध्ययन करने वाले को कहा तेरा अध्ययन कर्ता जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति के द्वारा अहम ज्ञान यज्ञ श्याम मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित हो गया हूं यह धातु से निष्ठा करेंगे तो इष्ट बनता है बची सो पियादन कृति यह धातु के साथ में देव पूजा संगति कर रहा से तीन अर्थ में धातु है मेरी पूजा की मैं ऐसा मानता हूं इष्ट शब्द करता अर्थ तेना हम इष्ट श्याम उसके द्वारा मैं पूजित हो गया हूं उसने मेरी पूजा की कौन गीता का अध्ययन करने वालों ने मेरी पूजा की मैं ऐसा समझता हूं अध्ययन के बाद उसे पूजा इतिमे मति मेरी बुद्धि ऐसी कह रही भगवान कहते हैं मति मानी बुद्धि मेरी बुद्धि ऐसी कहती है तो भगवान ने कहा देखो तो पारलौकिक फल तो है ही है लौकिक व्यावहारिक कार्य करने वाले व्यक्ति भी गीता के अध्ययन के माध्यम से चले महात्मा गांधी गीता को हमेशा लेकर चलते थे जगडंडा और भगवत गीता और कुछ नहीं था उनके पास इतना बड़ा शत्रु जिनका शासन चल रहा है उसको हटाया उसके माध्यम से उन्होंने गीता की युक्तियों के माध्यम से हटाया है महात्मा गांधी के पास और कुछ भी नहीं था व्यावहारिक काल में भी स्थिति है व्यावहारिक काम में भी आने वाली गीता केवल पारमार्थिक मात्र नहीं है इसलिए तो महात्मा में कहा था गीता सुगीता कर्तव्य कि मने शास्त्र विस्तर है या स्वयं पर्वण अवश्य मुखपदवाद महात्मा ने कहा था पढ़े अभी तो फलश्रुति चल रही है शुरू में महात्मा ने कहा था गीता को जिसने सुगीता कर दिया अच्छे ढंग से उसके अपने नियंत्रण में लाया गीता को समझा तो गीता सुगीता कर्तव्य कि मन अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लेना है उसको कोई प्रयोजन तो नहीं होगा सारा प्रयोजन यही सिद्ध होता है मैंने शास्त्र या स्वयं क्यों ये स्वयं भगवान विष्णु तो, कोई ऋषियों ने कहा हुआ नहीं गीता ये अन्य शास्त्र को अमुक ऋषि ने कहा अमुक ने कहा अमुक ने कहा किसी का नाम आएगा यहां या स्वयं पद्मनावश्य जो पद्मनाभ भगवान है पद्म है नाभि में जिसके उसको पद्मनाभ कहते हैं नाभि में पद्म का यहां स्वयं पद्मनाभस्य मुखाद पद्मनाभ जो भगवान है उनके मुख से विनिश्रिता विशेष रूप से निकली हुई है ये भगवान की वाणी साक्षात वाणी है अन्य जो ग्रंथ होंगे किसी न किसी ऋषि की वाणी होंगे वो अमुक अमुक लेखक अमुक लेखक आता है भगवत गीता भगवान की स्वयं वाणी है ये महात्मा ने कहा था इसलिए गीता यदि ठीक से गीता कर लिया तो अन्य शास्त्रों की जरूरत नहीं उसको महात्मा करके आए तो यह कहा अध्यक्ष चत एवं धर्मम संवाद आवयो धर्मम एवं संवादम जो हम दोनों का जो संवाद है तुम्हारा हमारा तो संवाद है गीता में यह अध्यक्ष थे जो व्यक्ति अध्ययन कर, करेगा इस संवाद को जो अध्ययन करेगा तुम्हारे यहां पर जो वार्तालाप है यहां इसको जो संवाद अध्ययन करेगा तेना उस अध्ययन करता के द्वारा ज्ञान यज्ञ हम श्याम हाँ, मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो गया हूं उसके माध्यम से मैं ऐसा समझता हूं मेरे मति यह है मेरी बुद्धि ऐसी कहती है ऐसा भगवान ने हस्ताक्षर किया हुआ है माने गीता का अध्ययन करने वाले व्यक्ति से लेकर के बड़ा मैं दूसरे को नहीं समझता हूं ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा होता है चतुर्थ हम बोल के आए हैं अन्य यज्ञों की अपेक्षा अन्य यज्ञ छोटे हैं ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है कहा है कि अध्ययन को ही ज्ञान यज्ञ कहा जाता है किसको सत्यशास्त्र का अध्ययन करना ज्ञान यज्ञ है भाष्य में कहते अध्यय से हमारे है पठ धातु से कर दिया पठव्यक्ता हम भाषी यही है इन अध्ययन धातु है इन धातु अध्ययन करने अर्थ में पद में हो किंतु अधिपूर्वक नहीं चलता ध्यान देना यद्यपि अधिक का कोई तात्पर्य नहीं है केवल इष्यते होना था क्या होना था यश्यते होना था किंतु अधि लग बिना यह प्रयोग नहीं होता दो धातु ऐसे हैं अधि उपसर्ग के बिना चलते नहीं है इन इकऊ अधि उपसर्ग तो न बेबीचार ऐसा भैया व्याकरण में कहा हुआ है इंग धातु और इक धातु एक स्मरण धातु है और स्मरण करने अर्थ में इक धातु का बोलते हैं मातरम अध्येती ऐसा बोलते हैं माता के याद करता है ऐसा हो जाता है बालक मातरम अध्ययती बालक माता को याद करता है वहां अध्यति होगा या अधित बनेगा यहां एक धातु का प्रयोग क्या होगा ऐसी स्थिति है आत्मनिपदी और परस्परपति है एक धातु किंतु अधि के बिना ये उद्योग कभी भी नहीं चलते जब भी धातु का प्रयोग करना हो अधि उपसर्ग के साथ होते हैं यद्यपि अधि का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि उपसर्ग की तीन गति होती है धात्वर्थम बाधते कश्चित कहेंगे उपसर्ग जो लग जाता है धातु का अर्थ को बाध्यता अन्य अर्थ में ले जाता है जैसे प्रहार आहार विहार गृह धातु का बदल दिया था सारा धात्वर्थम बाधते कश्चित कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं कश्चित उपसर्ग कोई उपसर्ग धातु के विषय को अर्थ विषय को बाध देते हैं जो धातु पाठ में जो अर्थ निर्देश किया होगा उसको बाध देते हैं अन्य अन्य अर्थ में ले जाते हैं धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित है कोई कोई उसी के अनुवर्तन करते हैं धातु का जो अर्थ है उसी में लेके चल जाते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होगा धातु का अर्थ बाधेगा कुछ उपसर्ग ऐसे हैं धातुअर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते कुछ उसी का अनुसरण करते हैं धातु के अनुसरण करके चलते हैं विषय नष्टि तमे बान्य उपसर्ग स्त्रिधागति कोई विशेषण बन जाते उपसर्ग कोई धातु के विशेषण बन जाते हैं उपसर्ग की तीन गति बताया उपसर्ग त्रिधा गति उपसर्ग तीन गति होती है धातुअर्थम बाधते कश्चित कश्चित तमनुवर्तते है विशेषी तमय अन्य कुछ उपसर्ग ऐसे अन्य उपसर्ग उसे धातु के विशेषण बन जाते हैं कहीं कहीं उपसर्ग त्रिधा गति उपसर्ग की तीन गति है तो अधिश्यते में यहाँ अधि उपसर्ग है इसका कौन सा अर्थ है धातुअर्थम अनुवर्तते हुआ है कश्चित तम अनुवर्तते धातु के अर्थ प्रयुक्त है यहाँ स्वतंत्र अधि का अर्थ नहीं है किंतु अधि के बिना ये तो- जो धातु प्रयोग तो प्रयोग में नहीं आते हैं कौन इन और एक दो धातु ये इन धातु है अधिश्यति में इन अध्ययन धातु है अधिपद पूर्वक है तो भाष्य में कहते अध्यय से पठित से कहा जो कोई पढ़ता हो इस गीता को पढ़ता हो पहले तो पढ़ाने वाले कथा पढ़ने वाले के है प्रशंसा या जो कोई भी पढ़ता हो इमम इस गीता ग्रंथ को जो पढ़ता हो इमम ग्रंथम ये जो ग्रंथ है गुथा हुआ अनेक शब्द गुथा हुआ है व्यासे ना ग्रंथाम पुराण बुनिया का महात्मा ने कहा था व्यासी ने गुथा है ये शब्द चुन चुन करके गुत दिया माला बना दिया गीता तो धर्म मान धर्मात तुम धर्म से ही प्राप्त होता हो बिना धर्म के प्राप्त हो नहीं होता अध्ययन करना गीता का अध्ययन ये भगवान बोल रहे हैं पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म हो वही गीता पढ़ सकता है धर्माधर्मतम धर्मम धर्म से जो प्राप्त हो उसको धर्म कहा जाता है अन्य पुरुषार्थ काम नहीं करे धर्म ही काम करे जिसके लिए प्राप्ति में उसको धर्म बोला जाता है धर्म धर्म पथ्य पथ्यर्थ न्यायात अनपेत सूत्र है व्याकरण में धर्म से यद प्रत्यय करके धर्म बनता है धर्म से प्राप्त होने वाले को धर्म कहा जाता है धर्माद अनुवेतम संवाद रूपम इमंतिम किम ये क्या है गीता संवाद रूप है गुरु शिष्य के संवाद है परस्पर संवाद है प्रश्नोत्तर रूप है संवाद रूपम ग्रंथम इमम ग्रंथम ये जो ग्रंथ है गीता ग्रंथ गुथा हुआ है मारे जैसे पुष्प गुथ करके माला बनाते हैं वैसे शब्द गुथा हुआ है क्या गुथा है शब्दों को गुथा हुआ है ग्रंथम आवय हम दोनों का है गुथा हुआ है कुछ तुम्हारे शब्द हैं कुछ मेरे शब्द हैं यही मिला है गीता वह हम दोनों का तेरा इधम कृतस्या जो इसको अध्ययन करता हो जो उस व्यक्ति के द्वारा ये किया हुआ हो जाता क्या ज्ञान है ज्ञान तेरा हम इष्ट से वो ज्ञान है के द्वारा मेरे पूजा की उसने ये मेरी बुद्धि बोलती है बन जाएगा तेरा एक कृतम से ज्ञान है ज्ञान तेरा हम इष्टम से हम कहा हुआ है ज्ञान के मन क्या है देखो यज्ञ चार प्रकार के यज्ञ करता है विधि जप उपांशु मानस चार प्रकार की जो चर्चा होती है विधि यज्ञ बाहर में द्रव्य यज्ञ स्वाहा स्वाहा आदि किया जाता है बाहर में शरीर से जो कर्म किया जाता है ये विधि यज्ञ है स्वर्ग काम देता ये विधि वाक्य है आदेश वाक्य आदेश देता है तो सुनने वाला स्वर्ग के लिए तैयारी होकर के यज्ञ करता है ये विधि विधि यज्ञ है दूसरा होता है जप यज्ञ जो बाहर में नहीं होता बाहर के कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं जप करने के लिए बैठ गया चुपचाप बैठ गया नाम का जप करता रहा जपे ज्ञानम जपे विभूति अध्ययन तथा गया भगवान यज्ञों में देखो तो जप यज्ञ होना है उसमें खर्च कुछ भी नहीं है और हिंसा आदि भी नहीं है बाह्य यज्ञ करने में हिंसा जरूर होगी यज्ञ मंडप बताते समय के कीड़े आदि नहीं मरेंगे क्या संविधा जलाएंगे उनमें कीड़े नहीं होंगे क्या वह पुण्य अधिक है पाप कम है इसलिए किया जाता है जब यज्ञ में कोई हिंसा आदि प्रसंग नहीं है इसलिए भगवान ने अपना विभूति बताया ईश्वर बताया स्वरूप बताया यज्ञों में देखो तो मैं जब यज्ञों कहा था तो ऐसे जब यज्ञ है तीसरा होता है उपांश यज्ञ माने जब करते समय तो मुख में ओठ आदि हिलते होंगे ओठ आदि हिलते होंगे तो कुछ माने बाघ का प्रयोग वाणी का प्रयोग होता है वहां किंतु उपांश यज्ञ गले में होता है मन से बाहर है वाणी से भीतर है उसको उपांश कहते हैं ऐसे क्यों होते हैं कुछ तीसरा होता है मानस यज्ञ मन से ही यज्ञ किया जाता है देवता भी मन से तैयार करना जो अपना इष्ट होगा हृदय में बैठा हो चाहे बाहर सिंहासन में बैठा हो हाँ, आसन में बैठा हो उसको अर्घ दो पाद्य दो पाद्य दो अर्घ दो आचमन दो स्नान या जल चढ़ाओ मन से ही करता है सामग्री भी मन से है देवता भी मन से है और जितने भी वहां सामग्री होंगे सब मन से ही है तो सब मन में ही करना यह मानसिक पूजा बोलते हैं इसको जैसे शिव मानस पूजा में कहा गया है रत्न कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नानारत्न विभूषित मृगपदाबोधाकित चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचित पुष्पम पुष्पम च तथा दीपम देवदया विधे पशुपते हृत्कल्पित गृह्यता सौवर्णे नवरत्नखंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदधियुतम ब्रह्माफलम पानकम शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मैया विरचिते भक्त प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोरिगं व्यजनकम् चादर्शकम् निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हेतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितम् भूयां गृहः आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणाशरीरं गृहम् पूजाते रचना निद्रा समाधि स्थिति संसार पदयो प्रदक्षिण विभो स्त्रोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत कर्म करो भी तत्तदखिलम संभो तव आराधन पूजा मानस में है मानसिक पूजा है देवता के मन से कल्पना करना उनके आकार को बनाना मन से बनाना उनको आसन देना पाद्या देना पूजा करना भोग लगाना प्रदक्षिणा करना छत्र चामर हिलाना ये सब मन ही मन होता है बाहरी सामग्री रहे तो मन से भी पूजा की जा सकती है भगवान की यदि बाहरी सामग्री उपलब्ध करने के सामर्थ्य हो तो फिर केवल मानसिक पूजा उसके लिए नहीं है जो बाहर के सामग्री में असमर्थ व्यक्ति है द्रव्य के कर नहीं सकता उसके लिए मानसिक पूजा है जो द्रव्य कर सकता हो तो करना पड़ेगा उसमें मानस पूजा से काम नहीं चलना उसको तो ये चार प्रकार के यज्ञ विधान है कहते हैं विधि यज्ञ जप यज्ञ उपास यज्ञ मानस यज्ञ है ये ज्ञान ज्ञान यज्ञ मानसत्वाद विशेषतमा कहते हैं ज्ञान यज्ञ मानस है चिंतन शास्त्र चिंतन चलता मन में चलता है ये मानस है ज्ञान यज्ञ मानसत्वाद मानस यज्ञ होने से विशिष्ट है बार बार के यज्ञ से भीतर वाला यज्ञ मानस यज्ञ विशेष होता है तो जो अध्ययन करना गीता का अध्ययन करना अर्थ समझना है उसको यही है तो मानस है ये विशिष्टतम है अति विशिष्ट है कि ये ज्ञान किया यह अध्ययन रूपी यज्ञ को ज्ञान के कहा जाता है इत इति हतस्तेर महाज्ञान ज्ञान उस ज्ञान के द्वारा मेरी पूजा की उसने मेरी मान्यता है मैं मानता हूं मेरी बुद्धि ऐसे कहती है भगवान कह रहे हैं ज्ञान के ना गीता शास्त्र से अध्ययन स्तुति कहते इस ज्ञान के द्वारा भगवान किसकी तुति की भगवान के द्वारा किसकी तुति होती है गीता शास्त्र अध्ययन की तुति गीता शास्त्र का जो अध्ययन करता हो उसकी तुति हो रही है तो गीता का अध्ययन करता हो उतने से क्या होगा मैं ज्ञान कैसे पूजित हो गया हूं मेरे सम्मान किया उसने पूजा की मैं ऐसा मानता हूं गीता शास्त्र अध्ययनम तू यते भगवता स्तूयते भगवान के द्वारा तुति की जाती है गीता शास्त्र के अध्ययन की किसकी अध्ययन की स्तुति की जाती है इतना बड़ा फल फल विधि के अथवा फल ही है इसका फल है क्या फल है आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है गीता पढ़ते पढ़ते पढ़ते शरीर भाव से पृथक होकर आत्मभाव को प्राप्त होता है यही मिलेगा इसमें निष्कर्ष फल विधि जैसे देवतादि देवता आदि के ज्ञान पूर्वक आदि करके फल प्राप्त कौन सा फल स्वर्ग फल प्राप्त करते हैं फल विधि है फल को बताने वाला वाक्य होता है स्वर्ग आवेश देता फल विग्रह बस अथवा फल विधि तो है गीता का अध्ययन क्या है इसका फल है पहले तो कहते फल दिखाए नहीं ज्ञान एक के द्वारा मैं पूजित हो जाता हूं मैं ऐसा मानता हूं उसको तो कोई फल मिला नहीं अध्यय से एवं धर्म संवाद मावो ये कहा जो तुम्हारा हमारा समाज को जो अध्ययन करता हो ज्ञान हम इष्ट से हम व्यक्ति बोलते ज्ञान के द्वारा मैं पूजित हो गया मानता हूं उसको फल क्या मिला भगवान की पूजा कर दी तो हो गया क्या मिला उसको अथवा फल भी दिया गीता शास्त्र का अध्ययन का फल है फल विधि देवतादि विषय ज्ञान यज्ञ फल तुल्यम अश्य फल कहते हैं गीता शास्त्र अध्ययन का जो फल अश्य अध्ययन से देवतादि विषय की जो ज्ञान होता है स्वर्गाम यजत वाक्य में किस देवता के लिए कौन सा यज्ञ करता है देवता का ज्ञान होगा किस प्रकार यज्ञ करना यज्ञ का ज्ञान होगा ये सारा फिर उसके उस प्रकार करने से स्वर्ग फल मिलेगा जैसे देवता के विषय जो ज्ञान होता है ज्ञान होने से यज्ञादि करेगा यज्ञ करने से फल मिलता है इस प्रकार यहां भी फल है यहाँ क्या है आत्मभाव में पहुंचेगा व्यापकता में पहुंचेगा परिच्छिन्नता को त्याग करेगा परिच्छिन्नता आत्मा में देहादि के कारण है देहादि भाव से पृथक अपने को समझेगा आत्मभाव में पहुंचेगा मुक्त होगा फल होगा ये कहते हैं गीता अध्ययन का जो फल यह है उसके समान तुल्य वाले फल है विधि फल विधि फल विधि अथवा फल विधि हो ये वाक्य क्या देवतादि विषय ज्ञान यज्ञ देवतादि विषय जो ज्ञान से यज्ञ करेगा व्यक्ति अमुक देवता के ज्ञान है इंद्रा इंद्र के लिए वरुण के लिए कुबेर के लिए भिन्न भिन्न देवता के संबंधी यज्ञ होते हैं उस यज्ञ करके फल जो मिलता है उसके समान फल है इसका गीता का अध्ययन मात्र का भी फल है फल भगवती का जो फल है क्या होगा फल टीका में स्पष्टीकरण कर देगा आत्मवाद में पहुंचेगा व्यापकता में जाएगा पहुंचेगा यही तेना अध्ययन हम इसका उस अध्ययन के द्वारा गीता के अध्ययन के द्वारा मैं इष्ट माने पूजिता यही इष्ट शब्द है पूजित मैं पूजित हूं ऐसे मानते हूं मेरी पूजा की उसने मैं ऐसा मानता हूं इति मे मति मम निश्चय का मेरा निश्चय है टीका भी कहते हैं यथोक्त से शास्त्र से योपी अध्यता जो गीता शास्त्र पूर्व संवाद रूप शास्त्र है तुम्हारा हमारा संवाद है यथोक्त शास्त्र से अपनी अध्यता जो अध्यता भी होगा प्रवक्ता नहीं है अभी दूसरे को उपदेश नहीं कर पा रहा है स्वयं अध्ययन अवस्था में है जो कि अध्यता अध्ययन करने वाला तेरह इदम कृतम से उसके द्वारा भी ये किया हुआ हो जाता है कार्य किया हुआ हो जाता है माने ज्ञान के द्वारा मेरी पूजा की हुआ होती है ये कहना तो संबंध ऐसा करना संबंध का उसके द्वारा ये किया हुआ होता है क्या किया है ज्ञान एगन तेना हम इस तस्याम देवती ऐसा किया हुआ होता है तदेव वो क्या है उसी को कहते हैं अध्यक्ष भाष्य में कहा पठिष्यति अध्यक्ष करके कहा यही मम परमम धर्मम धर्म से प्राप्त होने को धर्म कहा जाता है पूर्वजन के पुण्य के बिना गीता अध्ययन करने को नहीं गीता संसार में बहुत है मनुष्य बहुत है तो उनमें से कितने कितने लोगों को मिला गीता अध्ययन करने को समाज बहुत बड़ा है कितने लोग कर रहे हैं क्योंकि पूर्वजनों का पुण्य का प्रभाव होगा जो कि हम यहां बैठ करके गीता अध्ययन कर रहे हैं ईश्वर ने यहां तक हमें पहुंचाया है हमारी बुद्धि से बाहर आई ऐसा कैसे पहुंचा दिया है तेरह इदम कृतम इतत्र इदम शब्दार्थ है तेर इदम कृतम शायद बोला है उसने ये कर दिया क्या कहिया जो तो इदम शब्द का अर्थ कहते हैं ज्ञान है ज्ञान इदम माने ज्ञान है ज्ञान ज्ञान के द्वारा मेरी पूजा की मैं इसे मानता हूं भगवान कह रहे तेरा हम श्याम यदि समझता है तेरह माने जो अध्ययन करता है ना वो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता के द्वारा मैं पूजित हो जाता हूं उष्ट श्याम वहां ले जाके अंदर करना कहा संबंध करना चतुर्विधान ज्ञान एक चार प्रकार के हैं एक तो बाहर के यज्ञ हैं दव्य जिसको बोलते हैं जो सभा होता है जहां बाहर का यज्ञ दूसरा होता है जप यज्ञ तीसरा होता है उपांश यज्ञ चौथा मानस यज्ञ एक ज्ञान मध्य ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताइए चतुर्थ त्याग भगवान ने श्रेयान द्रव्य मयाद्याज ज्ञान जम परम तप सर्वम कर्माखिलम पाथा ज्ञाने परिसमाप्य थे बोल दिया श्रेष्ठतर है ज्ञान का श्रेयान बोल दिया अन्य श्रेय है प्रशस्त है यज्ञ कोई निकृष्ट कोई भी नहीं है चाहे द्रव्य यज्ञ हो चाहे उपांश हो चाहे जप हो सभी श्रेष्ठ है यज्ञ कोई अनिष्ट नहीं होते श्रेष्ठ होते कनिष्ठ नहीं होते किंतु ये श्रेष्ठ श्रेयान बोल दिया अतिशय न श्रेष्ठ श्रेयान ये सुन प्रत्यय लगा के बता दिया अन्य श्रेय है प्रशस्य है अतिशय प्रशंसनीय है अन्य करो ये यज्ञ की अपेक्षा ये अतिशय कौन ज्ञान है ऐसे भगवान ने चतुर्थ तो में बोल के आया श्रेय शब्द से यह सुन लगा करके श्रेयान बताया है प्रशस्य शब्द से लगा तीसरा आदेश करके बनाया है श्रेष्ठ तम अपने है दो की तुलना तो एक तरफ दूसरे है और एक तरफ एक है कौन ज्ञा एक तरफ बाकी तीन एक एक तरफ करके श्रेयाम बताया जाए दो के विभाजन में विशेषता दिखाने के लिए तरफ या यशुन लगता है यह सुन लगा है श्रेयाम श्रेयान में आदि जितने यज्ञ थे ना उस यज्ञ की अपेक्षा श्रेय है अच्छा श्रेष्ठ है दो तुलना में यशुन या यह सुन या तरप लगता है और बहुतों की माने बहुतों में से कोई श्रेष्ठ तमक और इष्टम लगता है या तम नहीं है यहाँ तरह है प्रशस्त तरह इस काम में माने यशुन लगाया हुआ है और प्रशस्त को सर आदेश हो जाता है सदस्य होता है इष्टन जी यशुन पर प्रशस्त शब्द स्थान में सर आदेश होता है श्रेयस बन गया आएगा श्रेयान प्रथमा वचन है तो भगवान ने कहा श्रेया द्रव्यमया यज्ञ जो द्रव्यमयादी यज्ञ है ना जो अन्य यज्ञ उनकी अपेक्षा स्त्रेय है श्रेष्ठ है कौन ज्ञान यज्ञ कहा है क्यों सर्वम कर्माचल पार्थ ज्ञान पर समाप्त सारे के सारे जहां से भी चलेंगे अंत में ज्ञान में जाकर समाप्त होगा कर्म से चलो कहीं से भी चलो अंत में कहां पहुंचेगा ज्ञान में जैसे कहीं से भी चलती हो नदियां कहां पहुंचती है बस अंत में परिणाम ज्ञान में परंपरा से पहुंच रहा है कोई साक्षात है बात है सर्वम कर्मात अखिलम कर्म सारे के सारे अखिल जितने बताए का कर्म होते हैं ज्ञान में ज्यादा समाप्त होना है अंतिम गति ज्ञान में पहुंच रहा हूं इसलिए ज्ञान एक श्रेष्ठ है वो साक्षात वाला है कैसा है और परंपरा वाले हो जाते हैं इसलिए स्पष्ट है कहा चतुर्थ अध्याय बताए इसी विशिष्टत्व अभिधानात ज्ञान यज्ञ के लिए विशिष्ट कहा परमात्मा क्या कहा हाँ, विशिष्टत्व कथनात् तेरा अहम इष्टस्याम कहा उसके ज्ञान एक के द्वारा मैं पूजित हो जाता हूँ ऐसे मेरी बुद्धि है जो भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ इस व्यक्ति के द्वारा मैं पूजित हो मानता हूँ इसे अध्ययन से तुते अभिपत अभिपता जैसे अध्ययन गीता अध्ययन की स्तुति है प्रशंसा है हम्म। यही अभिपत है भगवान को इष्ट है इसलिए क्या विधि इत्यादि का विधि जब उपांशु मानसा नाम ज्ञानम जो चार प्रकार की चर्चा है तो उनमें से ज्ञान एक जो मानसत्वाद विशिष्ट ज्ञान एक मानस आता है तो विशिष्ट हो जाता है क्या हो जाता है अतिशय विशिष्ट होता है अतः इसी अतिशयाते ज्ञान के ना गीता शास्त्र से अध्ययन सूर्य ज्ञान के कथन के द्वारा क्या करते हैं गीता शास्त्र अध्ययन के प्रशंसा करते हैं किया जाता है भगवान के द्वारा भगवता स्तूयत है भगवान प्रशंसा करते हैं भगवान स्तौति भगवता स्तूयत कर्मणि प्रयोग हैं भगवान के द्वारा स्तुति की जाती है पक्षांतर वाला कहते हैं अन्य पक्ष अथवा फल भी है यहां तो फल नहीं बताया मैं प्रसन्न होता हूं उसके द्वारा इतने बताया उसको क्या मिला कुछ बताया नहीं पहले व्याख्या में अथवा फल है जैसे यज्ञ आदि को जानने वाला व्यक्ति बाहर के करे देवता भाव प्राप्त करे देवता को जान करके करेगा अमुक देवता को पहचान कर उस देवता के लिए करता है तो तत्व देवता रूप हो जाता आगे यज्ञ आदि करने वाला स्वर्ग के भोग करते समय देवता रूप बन के करेगा ठीक है इस प्रकार मेरे स्वरूप बनेगा फल फल विधि एवं प्रकट फल विधि क्या है ये गीता अध्ययन करने क्या फल मिलेगा ये तो भगवान प्रसन्न हो गया अलग है वो देवतादि इत्यादि कहा था देवतादि विषय ज्ञान यज्ञ फल तुल्य तुल्यम अश्य फलम भगवती कहा जो देवतादि विषय जो ज्ञान होगा यज्ञ करने वाला क्या होगा मैं यज्ञ कर रहा हूं अमुक देवता के लिए वो देवता अमुक देवता है ज्ञान होता है देवता आदि का ज्ञान देवता आदि का जो ज्ञान होने से ही यज्ञ कर सकता है उसका जो यज्ञ का फल होगा देवता रूप में बनेगा क्या बनेगा देवता रूप में बनेगा ठीक इस प्रकार मेरी पूजा करता हो तो मैं बनेगा वो मेरे से भिन्न नहीं होगा मेरे स्वरूप ही बनेगा वो यांति देवता देवान पितृ पितृन्यांति पितृप्रता भूतान यांति भूते यांति मध्याजुपमा ये बोल के आए थे चतुर्थ देव था ये पितरों के श्राद्ध आदि करने वाले पितृ बनेगा वहीं जाएंगे पितृ रूप में पहुंचेगा यहां पितृप्रधान हम्म। देवा हम्म। यहां देवता देवा यहां देव प्रधान देवा जी देवताओं की पूजा करने में देवता ही बनेगा वैसे में और पितृ न्याय पितृव्रता जो पितरों के श्राद्ध आदि कर रहे हैं वो आगे भी वही काम करने वाले होते पितर ही बनेंगे भूतानी आदि जो भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत ही बनेंगे वही होगा वही चिंतन है उनका वही कोई भी व्यक्ति अपने से बड़ा कोई बना नहीं सकता मेरी सेवा करेंगे अधिक से अधिक मैं आप मेरे समान आपको बना सकूँ उसे आगे मैं बना मेरे सामर्थ्य नहीं है तो भूतों की पूजा करने वाले सबसे बड़ा फल देंगे तो क्या बनाएंगे भूत बनाएंगे और क्या बनाएंगे भूत आने यहाँ की भूत की यांति मज्जाजिरोपमा जो आत्मा की पूजा करने वाले आत्मा ही हो जाते हैं हम्म। आत्मा की पूजा किस तरह हम ब्रह्मास्मि यही आत्मा की पूजा जो <clears throat> यद्य ज्ञान यज्ञ से फलम कैबल फलम कैबल्य जो ज्ञान यज्ञ का फल होता है कैबल्य अकेला होना क्या होना हाँ यहाँ जितने पर आरोप है मैं मनुष्य हूं पुरुष हूं त्रियो सब हटाना न हम मनुष्य इसमें जाना ये फल होता है केवल अपने आप को बचाना यही यही होगा ज्ञान यज्ञ का फल ही होता है यदि ज्ञान यज्ञ फलम कैवल्यम तेरतुल्यम अश्य अध्यतु संपदेगा उसी के समान ज्ञान यज्ञ का जो फल होता है उसी प्रकार इस गीता के अध्ययनकर्ता को वही फल होता है भगवान ही प्राप्त होना उसको संपदित तच देवतादि आत्मत्व होगा उस काल में क्या बनता है देवता देवता आदि का भी स्वरूप हो जाता है क्या हो जाता पहले देवता का पूजा करता था द्वैत काल में अब देवता का स्वरूप बन जाता है देवता उसकी पूजा करेंगे कोई भी अपने आप को तो अवहेलना कोई करेगा नहीं अपनी निंदा नहीं करता देवता का स्वरूप ही हो जाता सब उसमें कल्पित हो जाता उस काल में स्थिति है कथम अध्ययनादेव सर्वात्मत्व फल लभ्य थे हाँ, सबके आत्मा बन जाना स्वरूप बन जाना केवल गीता के अध्ययन मार्ग कैसे प्राप्त होगा कहते वृद्धारूप वाक्य है उसको जान, जानता है ज्ञान है कैसे परमात्मा को जाने परमात्मा जान वाला परमात्मा ही होता है ब्रह्मविद ब्रह्म ही बहुत ब्रह्मविदता ब्रह्म ही होता है इसका बृहदारण्य पढ़ सकते प्रथम अध्याय के चतुर्थ जो ब्राह्मण होगा उसमें दसम कंडिका में बात आई है ब्रह्मवे अग्रे आसेत तदात्मान व्यपवेत अहम ब्रह्माष्टमी थे तस्मात तत्सर्वम है पहले सारा का सारा संसार ब्रह्म ही था अकेला था और कुछ नहीं था संसार था ही नहीं सृष्टि के पूर्व काल की बात घट बनने के पहले घट आदि होते हैं मिट्टी मिट्टी होती है इसी प्रकार ये संसार बनने के पहले क्या था एक ब्रह्म ही था संसार नहीं था उस काल में तो नाम रूप अभी पैदा हुआ है तो ब्रह्म वे इदम अग्रे आश्र अग्रे इदम ये जो जगत है इदम से जगत लेना है प्रत्यक्ष जगत अभी है अभी सृष्टि काल में जगत ब्रह्म आश्रित अग्रे बने सृष्टि प्राग काल सृष्टि के पूर्व अवस्था में ब्रह्म रूप में था ये अपना इनका रूप नहीं था जगत का तत् आत्मानुभव उस काल में दूसरे को जानने कि पदार्थ कोई थे ना अकेला ही था ब्रह्म अपने को ही जाना उसने अपने को ही जाना तद आत्मानुभव तद ब्रह्म आत्मानुभव ब्रह्म ही था वो ब्रह्म अपने को ही जाना दूसरे पदार्थ थे ही नहीं तो क्या जाना अहम ब्रह्माष्टमी मैं ब्रह्म हूं ये जाना क्या जाना घटादि पदार्थ थे नहीं सृष्टि थी नहीं अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा जाना उसको जानने से क्या हुआ मैं ब्रह्म हूं ऐसा समझा तो तस्मात तत्सर्वम अभक्त उसी ज्ञान से वो सर्वरूप हो गया व्याया प्रतारण कहते हैं तो आत्मगत्ता आत्मिक भोक्ता है इसके लिए है इति श्रुति तथा ये श्रुति है आत्मज्ञान से क्या ज्ञान के माध्यम से चलने से क्या होता है आत्मभाव में पहुंचना गीता का अध्ययन से भी वही पहुंचेगा कहते हैं इतने फल है उसका अध्ययन मात्र से तेरा ज्ञान जन चेष्टा इत्यादि भाष्य में तेन अध्ययन अनेर अहम इष्टम से इस अध्ययन के द्वारा मैं पूजित हो गया हूं ऐसा मानता हूं ये कहा तेन माने अध्यत्रा तेन तेरा का अर्थ है अध्यता के द्वारा क्यों है अध्ययन करने वाला व्यक्ति अध्यता के द्वारा ज्ञान है तुल्य ना ज्ञान के समान है यह कौन अध्ययन है ज्ञान जो ज्ञानी को जो फल मिल रहा है अध्ययन करता वही फल मिलता कहते हैं आत्मता को जो फल मिलता हो वही फल इसका है ज्ञान के तुल्य तो ना अध्ययन में ज्ञान के समान जो अध्ययन है भगवान इष्ट भगवान पूजित हो जाते हैं क्या हो जाते हैं यश धातु से बना है इष्ट शब्द यश धातु से निष्ठा प्रति तो करेंगे बची शोभ यदान प्रति से संप्रसारण होगा यश को तो ईज बन जाएगा भ्रष्ट भ्रष्ट लग जाएगा जकार को प्रति सकार होगा तो नाश्त लग जाएगा इष्ट बनेगा यह धातु का रूप है निष्ठा का रूप है तथा तज ज्ञानाद उत्तम फलम अविरुतम इसलिए तो ज्ञान से जो गीता का अध्ययन है ना उसके भगवान के ज्ञान से अविरुद्ध फल है वही फल है जो आत्मवेत्ता को जो फल होता है गीता का अध्ययन करता को भी चल चल करके वही फल मिलेगा आत्मवेत्ता को साक्षात फल है गीता का अध्ययन करने वाले के लिए समय लगेगा गीता का अध्ययन करते करते आत्मा को समझेगा तब फल मिलेगा फल वही है प्रवक्तोर अध्ययतो से फलम उक्तवा स्रोतोर इधान फल वहा प्रवक्ता का फल बता दिया अध्ययनकर्ता का फल बताया दो श्लोकों में प्रवक्ता का फल और एक श्लोक में अध्ययन अध्यक्ष थे धर्म स्वभाव कहा अब श्रोता का भी फल है गीता को अध्ययन भी नहीं कर सकता प्रवचन तो दूर की बात रही प्रवक्ता होना तो अध्ययन भी नहीं कर पा रहा है निरक्षर है समझो सुनने वाले को फल होता है कहते हैं ठीक कहते हैं प्रवक्तोर अध्यत्व या प्रवक्ता है अध्यता है दोनों का फल का कथन कर श्रोतु और श्रोता का इधान फलम कथ इस समय में श्रोता का फल बताते हैं गीता सुनने मात्र भी फल होता कहते हैं अतः श्रोतुर एकदम फलम का श्रोता का भी यह फल है हम्म। आगे बताने वाला फल श्रोता का है इकहत्तर श्रोत बताएंगे श्रद्धावान न सूर्य श्रृणुयादपि नर योगी मुक्त शुभानलोकान प्राप्त पुण्य कर्मणा श्रद्धावान अनुसूय श्रूयादपि यो नर योगी मुक्त शुभानलोकान प्राप्त पुण्य कर्मणा श्रद्धावान श्रद्धालु होता हुआ भगवान को श्रद्धा रखता हो और अनसूयश्च भगवान के लिए निंदा न करता हुआ हो असूया मैंने निंदा गुण में दोष मानना आरोप करना यह है निंदा असूया तो सामने वाले में गुण है तो दोष का आरोपण करना इसको असूया कहते हैं उसका अभाव हो भगवान में असूया का अभाव हो जाना अनसूयी हो तो धर्म युक्त हो श्रोता श्रद्धालु हो और भगवान की निंदा नहीं करता हो ऐसा श्रोता हो यो डर श्रृणियाद हुए मन श्रद्धा युक्त होता हुआ अनुसूया होता हुआ यो डर जो मनुष्य श्रृणियाद हुए सुनता भी हो दो को लेकर के सुनता हो श्रद्धालु बनकर सुनता हो श्रद्धा युक्त होकर और भगवान की निंदा नहीं करता हो ऐसा करता हुआ जो मनुष्य सुनता हो सो भी मुक्त सुमा सो भी मुक्त करते वो पापों से मुक्त हो जाता हो सुनने मात्र से भी शुभान लोकान प्राप्त पुण्यकर्मा जो पुण्यकर्मियों का जो लोग प्राप्त होना था जो अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले जो होते हैं उनको जो लोग कौन ब्रह्मलोक प्राप्त होता उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है शास्त्रों में है ऐसे शुभ लोग को प्राप्त करेगा सुनने मात्र से पापों से मुक्त होता हुआ उस शुभ लोग को प्राप्त कर देगा शुभान लोकान प्राप्त तो शुभ लोगों को प्राप्त करे अरे पुण्यकर्मा पुण्यकर्मान स्वभाव जो पुण्य कर्म करने वाले को मिलता है जो लोग कौन लोग ब्रह्म लोग आदि है वो प्राप्त करता है पुण्य मात्र से कहा किंतु श्रद्धालु होकर के सुने और भगवान में दोष दृष्टि न देखे गुरु दृष्टि से देखे ये करते हुए कार्य कहा देखो गीता पढ़ना सुनाना जो भी हो दो तरह से होता है एक तो क्या करें हम सनातन धर्म में हमारा जन्म हो गया यदि इसको नहीं पढ़ेंगे तो खीमे की क्या बोलेगा पड़ोसी क्या बोलेगा हमारे पड़ोस में मुसलमान बैठे ईसाई बैठे हैं ये तो कैसा तो हिंदू है गीता पढ़ता भी नहीं सुनता भी नहीं तो माने लौकिक इज्जत बचाने के लिए पढ़ना है भगवान के लिए नहीं पढ़ना ऐसे भी पढ़ाई होती है और एक है भगवान को श्रद्धा रखकर निष्ठा रखकर तरह सुनता हो श्रद्धावान अनुसूय से कहा श्रद्धा युक्त होता हुआ असूया रहित होता हुआ जो मनुष्य कहा जो मनुष्य सूर्यात सुनता हो अभी इतना मात्र से भी सो भी मुक्त वो भी मुक्त हो जाता है और अपी लगाने से जो श्रद्धापूर्वक पढ़ता क्या है जो पढ़ता हो और दूसरे को समझाता हो तो क्या कहना उसके मुक्ति के बारे में आप से मुक्त होने में जब ये शून्य मात्र से मुक्त है देखो भगवान की कथा प्रवक्ता श्रोता ये तीनों को पवित्र करती कहते हैं भगवान की कथा कथा बांचने वाला वक्ता होगा पूछने वाला प्रश्न होगा बीच बीच में पूछेगा प्रश्न करेगा और श्रोता तीनों को पवित्र कर, करती है जब गंगा है दृष्टा स्पर्शकर्ता स्नाता तीनों को पवित्र करते हैं छूता स्नान करता हो दर्शन करता हो अथवा आचमन आदि करता तीनों को पवित्र करती है ठीक इस प्रकार भगवान की कथा ऐसी है प्रवक्ता जो होगा और अध्यता जो होगा और श्रोता तीनों को उपयुक्त करने वाले है कहा श्रद्धावान होना तो एक अपना स्वयंता गुण है श्रद्धावान होना तो स्वयंता गुण है तो स्वयं स्वयं करना पड़ेगा उस विषय में श्रद्धा उस विषय में श्रद्धा अपने में श्रद्धा नहीं उस विषय में हाँ, लेकिन उसमें लौकिक क्या है लौकिक से क्यों उसका श्रद्धावान का तो लौकिक से क्या संबंध है क्या लौकिक है जैसे कोई कहेगा कि पढ़ता नहीं है वो नहीं है ऐसा थोड़ी उसको सोचना है तो श्रद्धावान तो अपनी श्रद्धा से पढ़ता है तो श्रद्धा से पढ़ेगा नहीं सभी नहीं पढ़ेगा माने एक मजबूरी में पढ़ने वाला भी है मजबूरी में पढ़ने वाला श्रद्धावान थोड़ी कहलाएगा तो फिर श्रद्धालु होना चाहिए मजबूरी में पढ़ने वाला नहीं होना चाहिए श्रद्धावान तो अपनी स्वयं की श्रद्धा होती है पर ऐसा होता तब ना माने मजबूरी में पढ़ने वाला भी होता है हाँ। उसको नहीं मिलेगा हाँ। भगवान मजबूरी पढ़ने वाला श्रद्धावान नहीं कहलाएगा या नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ भोजन नहीं मिलेगा रहने नहीं मिलेगा ऐसे भी पढ़ने वाले हैं यहाँ मिलने पर भोजन आवास की व्यवस्था मिलेगी ऐसे भी है उसके लिए नहीं पढ़ रहे गीता के लिए अपने व्यवस्था के लिए पढ़ रहे हैं <coughs> श्रद्धावान श्रद्धावाना का श्रद्धालु होता हुआ पड़े श्रद्धा निष्ठा अनसूय असूया वर्जित निंदा रही तो भगवान में निंदा दृष्टि जैसे शिशुपाल आदि थे ना भगवान की निंदा ही करते रहे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए निंदा करने वाले कम नहीं है समाज में अवजानित माम बूढ़ा मानुषम तन्माश्रिता नवोवध्या बोल के आए मेरी निंदा करते हैं मेरे को मनुष्य शरीर से देखते हैं ग्वाला है हाँ, ये अभी पैदा हुआ हम पहले से है ऐसा मानते हैं मेरे को अवजानित माम बूढ़ा मानुषम तन्माश्रिता मैं मनुष्य शरीर पर छिप के आया हूं कार्य करने के लिए परम भाव में जान तो मेरा परम स्वरूप को नहीं जानते ममाप्य मनुत्तम मेरा अव्यय स्वरूप है ये मनुष्य शरीर मेरा नहीं है जिस रूप में आए मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा भगवान ने कहा है नवअध्याय मूर्ख लोग नहीं होते हैं वास्तविकता को श्रद्धावान श्रद्धा न श्रद्धायुक्त होता हुआ अनुसूया असूया वर्जित निंदा से रहित हो ऐसे होते हुए सन कहा इमम ग्रंथम ये जो ग्रंथ है गीता रूपी ग्रंथ है श्रुणियाद भी सुनता भी हो तब भी श्रद्धा और असूया रहे तो ग्रंथ को तो सुनता भी हो पढ़ना भी नहीं आता जिसको ऐसी स्थिति हो जो डर है अपी शब्दात अभी लगा दिया श्रुणियात अभी माने वो तो अर्थ ज्ञानवान जो गीता का अर्थ का ज्ञान भी हो तो क्या कहना उसके मुक्ति विषय में जब सुनने मात्र से मुक्त कहा तो अर्थ भी समझता हो गीता को विषय समझता हो तो क्या कहना मुक्ति की वैसे क्या नहीं होगी मुक्ति उसके एक कैवृत की न्याय है जब यह भी मुक्त होता है तो उसके क्या कहना ऐसा है जब झाड़ू से वे माने कचरा साफ हो जाता है तो महाबवंड राजा हवा आया क्या कहना हवा होगा ही होगा साफ ये कहीं पर जाए कहते श्रद्धा मात्र होता हुआ श्रद्धालु होता हुआ निंदा रहित करता निंदा से रहित होता हुआ सुनता भी हो गीता को तत्ती तो अपि शब्द लगा दिया श्रेणुयादपि अपि से क्या कहना उन जो पहले वाले जो थे कौन अध्यता हो प्रवक्ता हो उनका तो क्या कहना तो अभी शब्दार्थ के तो अर्थ ज्ञानवान जो गीता के अर्थ को भी जो ज्ञान ही हो उसका तो क्या कहना मुक्ति के विषय में श्रद्धावान इत्यादि का श्रद्धावान शिवरात्र कहा सोपी पापान मुक्त केवल शून्य मात्र से वो जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर के सुनता हो तब भी पापों से मुक्त होगा मुक्त माने किससे मुक्त पापा मुक्त पापों से मुक्त होता है मुक्त होता हुआ शुभान लोकान प्राप्त कहा है शुभलोक पुण्यलोक जो पुण्य कर्मा को मिलने वाले लोग होते हैं गीता का शून्य श्रवण मात्र से वो लोग मिलेगा जो बहुत सामग्री लगाकर पुण्य कर्म किया था असुविधा जी एक किया था उनको उनको मिलता है जो लोग ब्रह्म लोग शून्य मात्र से मिलता है किंतु दो शर्त है शून्य मात्र क्या शर्त है श्रद्धावान होना चाहिए असूया रहित तो होना चाहिए सुभान प्रशस्तान जो है लोग ब्रह्म लोग आदि लोकान प्राप्त याद प्राप्त करता है शून्य मात्र से प्राप्त करे पुण्य कर्माम जो पुण्य कर्मियों का लोग प्राप्त करता है पुण्य कर्म पुण्य है कर्म जिनका उनको पुण्य कर्मा कहा गया यहाँ उसके ष्ठी पुण्य कर्मणाम जो पुण्य कर्म करने वाले लोगों को जो लोग प्राप्त होना है वो लोग इसको प्राप्त हो कर्म अग्निहोत्रादि कर्म होता पुण्य कर्म अग्निहोत्रादि कर्म ऐसे करने वाले का जो लोग प्राप्त होगा वही लोग इनको भी प्राप्त होता है किनको जो गीता के सुनने मात्र से है किंतु श्रद्धा युक्त होता हो सुनते हो और असूया रहित भगवान में निंदा रहित होकर के निंदा दृष्टि से ले रखता हो भगवान को निंदित दृष्टि से ऐसा करता तो कहा ये कहा हुआ है अब गुरु का भी एक कर्तव्य बनता है शिष्य को यदि ज्ञान नहीं हुआ इतने शब्द मैंने जो उपदेश दिया उसे ज्ञान नहीं हो तो प्रकारांत से भी समझाना पड़ेगा उसको अन्य प्रकार से यह प्रकार से नहीं समझा तो दूसरे प्रकार ऐसे ही सेतु केतु और उद्दालक ऋषि के प्रसंग में छांदोपनिषद में है नौ प्रकार से समझाया है होना वही है आत्मा आत्मा का ज्ञान होना है तत्वसी के महावाक्य के ज्ञान होना इस प्रकार से ये तरीके से नहीं समझा तरीका बदलना प्रकार बदलना वक्ता का भी एक धर्म होता है समझाना पड़ेगा उस शायद मैंने समझा दूसरी तरह समझा तो भगवान ये सोच करके कुछ प्रश्न उठाते हैं क्या तुमने गीता सुनी क्या ठीक से सुन करके निश्चय किया क्या निष्कर्ष निष्कर्ष क्या निकला हम्म। कर्म कर्म से मोक्ष है ज्ञान से मोक्ष है क्या है क्या समझा इत्यादि प्रश्न करते हैं मैंने यदि नहीं समझा हो तो प्रकार बदल कर सुनाऊंगा फिर भगवान ये से कहते हैं एटी टीका बोलते हैं आचार्य आचार्य का भी कर्तव्य होगा आचार्य शिष्या यावत अज्ञान संशय विप्रयास शिष्य के पास जब तक अज्ञान हो विपरीत बुद्धि हो शरीर आदि में आत्मबुद्धि हो जब तक और संशय बना हुआ हो भगवान बोला ये बात बोला भगवान ने कहा ऐसा कहा है या नहीं संशय शास्त्र में प्रमाण में संशय प्रमेय में संशय विषय में संशय हो प्रमाण में संशय हो जो गीता भगवत गीता प्रमाणिक है कि नहीं जो बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं ये विप्रलंब का या यथार्थ वक्ता है आप्त वाक्य है अनाप्त वाक्य है संशय आ सकता है प्रमाण में संशय और विषय में संशय प्रमेय में संशय हो सकता है विषय में संशय कहा तो है वो विषय है या नहीं मिलना है कि नहीं मिलना है संशय हो सकता है इसको हटाने के लिए शिष्य को लिए उपदेश देना होता है कहते हैं आचार्य आचार्य के द्वारा शिष्य आया उपदेष्टम कर्तव्यम दर्शित है उपदेष्टव्य होता है शिष्य के लिए और भी उपदेष्ट है क्या यावत अज्ञान संशय विप्रयास तावत जब तक उसके पास अज्ञान है प्रमाण में अज्ञान हो अथवा विषय में अज्ञान हो प्रमेय में अज्ञान हो अथवा संशय हो प्रमाण में हो ये जो कहा हुआ जो शास्त्र प्रमाण है इसमें संशय हो अथवा विषय में संशय हो जब तक रहेगा यावत संशय विपर्यास हाँ, जब तक संशय बुद्धि रही उसकी अथवा विपर्यास बुद्धि विपरीत बुद्धि कुछ कहा कुछ समझा ऐसा हो तो तावत तब तक आचार्य के कर्तव्य उपदेश करना चाहिए प्रकार बदल करके गुरु का कर्तव्य बनता चाहते हैं उपदेष्टव्यम आचार्य उपदेष्टव्य कसम शिष्य जब तक उसके पास अज्ञान हो या संशय हो तब तक उपदेश करना चाहिए तो गुरु का काम होता है अज्ञान हटाना संशय हटाना संशय निवृत्ति करना अज्ञान की निवृत्ति करना शिष्य उपदेष्ट दर्शक दिखाने के लिए भगवान अर्जुन पृष्ठवान भगवान ने अर्जुन को पूछा यहां हम लोग पूछते हैं भगवान ही कहते हैं शिष्य से शास्त्रार्थ ग्रहण अग्रहण विवेक बुद्ध से अपृक्षणी शिष्य में शास्त्र का विषय का ग्रहण हुआ कि अग्रहण हुआ गीता शास्त्र मैंने सुनाया शिष्य अर्जुन है उसको शास्त्रार्थ के शास्त्र का जो विषय अर्थ होता है उसका ग्रहण या अग्रहण का विवेक करना चाहते हैं जानना चाहते हैं भगवान इसको शास्त्र का विषय ज्ञान हुआ या नहीं हुआ समझा या नहीं समझा इसके जानने की इच्छा से बुभुत्सा या बुद्धुम इच्छा विभुत्सा जानने की इच्छा है भगवान को शास्त्र का अर्थ ग्रहण कर सका नहीं कर सका ये जानना चाहते हैं भगवान इसलिए पृछति भगवान पृछति भगवान पूछते हैं अर्जुन को कहा तद अग्रह यदि शास्त्र का अर्थ का ग्रहण नहीं हो पाया शिष्य को भगवान का अभिप्राय यही है यदि मैंने कहा किंतु ग्रहण नहीं कर सका हो तद अग्रणे शास्त्र का अर्थ को तब शब्द लेना शास्त्र के अर्थ ग्रहण अग्रणे ज्ञाते ऐसा जानने पर भगवान यदि गुरु समझे ऐसा शिष्य शास्त्र का तात्पर्य नहीं समझ सका ज्ञाते पुनर्ग्रह से हम भगवान कहते मैं दोबारा ग्रहण कराऊंगा दोबारा शास्त्र का अर्थ को फिर समझाऊंगा उपायांतर इस उपाय से नहीं समझा जो जो बताया तो उपाय बदलूंगा दूसरे प्रकार से समझाऊंगा ये भगवान सोच रहे हैं ये सोच रहे पायांतरण भी अन्य उपाय से भी समझाऊंगा समझाना गुरु का कर्तव्य है तो तो शरण में आया हुआ है अर्जुन बोल चुका है शिष्य हम साधुवाम हम प्रपन्न पहले द्वितीय अध्ययन बोल चुका है हम्म। यही सब बोल के आया कार्पण्य दोष हो पहता स्वभाव कृपणता रूपी में दया रूपी दोष आ गया मेरे ऊपर मैं अपने स्वभाव से नष्ट हो गया हूं क्षेत्रीय स्वभाव मेरे पास नहीं है अभी हम्म। इस समय क्यों विश्व पिता आदि सामने है जिनको मार करके हम मान जीना नहीं चाहते हैं वो यहां सामने बैठे हैं गुरुजन है पिता महादि हैं गुरु न तो आई महान भावा गिड़गिड़ाता आया आते आते कहा कार्पण्य दोषो कहता स्वभाव हम धर्म समृद्ध धर्म विषय मोहित तो हो गया कर्तव्य क्या है कर्तव्य मुझे कुछ ख्याल नहीं है मैं आपको पूछता हूं इनमें श्रेय या श्रेय हाँ, गुरु ने कहा जो मेरे लिए कल्याण हो वही मेरे लिए बताइए क्या करना है ये युद्ध करना कि नहीं करना शिष्य स्थे हम साधिमान भक्तम मैं आपका शिष्य हूं मेरे अपने शरण में लो देश करो देखो कहा तो शिष्य भाव से आया है तो यहां भगवान कहते हैं ये भगवान का शब्द होता है शिष्य से शास्त्र अर्थ ग्रहण अग्रहण विवेक बोध सया परिस्थिति कहा शिष्य के शास्त्र का जो विषय है अर्थ ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ ग्रहण है कि अग्रहण है इसके जानने की इच्छा से भगवान पूछते हैं तद अग्रणी शास्त्र का अर्थ ग्रहण नहीं हुआ यदि जान नहीं समझ सका अर्थ तो अग्रणी ज्ञाते ऐसा जानने पर पुनर्ग्राही से फिर ग्रहण कराऊंगा इसको ये भगवान का उपायांतरण भी अन्य उपाय के द्वारा भी ग्रहण कराऊंगा मेरा कर्तव्य बनता है प्रस्तुत प्रस्तुत रहता है भगवान या प्रष्टा है ये श्लोक में आगे पूछने वाले हैं प्रष्टा का अभिप्राय कहा यत्नांतरम आता है शिष्य कृतार्थ कर्तव्य इति आचार्य धर्म प्रदर्शित ये आगे आने श्लोक के द्वारा ये दिखाया होता है धर्म दिखाया होता क्या यत्नांतरम आस्था है यदि पहले वाले जो प्रयत्न था आचार्य का उपदेश चल रहा था उसके द्वारा नहीं समझाओ अन्य प्रयत्न लेकर के उपाय बदल करके उसका आस्था करके ठीक तो होकर शिष्य से कृता शिष्य कृतार्थ कर दो शिष्य को कृतार्थ कर दे कृत प्रयोजन वाला कर देना चाहिए गुरु का धर्म होता है यदि आचार्य धर्म है आचार्य का धर्म है गुरु का धर्म है प्रदर्शित अवधि ये श्लोक में आचार्य का धर्म ही प्रदर्शित किया था भगवान पूछते हैं यहां कच्चित तत्श्रुतम पार्थ त्वयकाग्रेण चेतसा कचित अज्ञान सम्मोह प्रणस्ते धनंजय कच्चित तत्श्रुतम पार्थ त्वयकाग्रेण चेतसा नक्षित अज्ञान समूह प्रनष्टस्ते धनंजय हे पार्थ हे पृथा पुत्र अर्जुन पृथा एक कुंती का नाम है कुंती से पृथा का पुत्र होने से पार्थ बोला गया है हाँ प्रत्यय लगा गया पार्थ कुंती का पुत्र है पृथा का पुत्र को पार्थ कहा गया दस्यावत हे पार्थ हे पृथा का पुत्र अर्जुन एक त्वया एकाग्र चेता कच्चित एतत् श्रुतम क्या तुमने सुना है कच्चित माने क्या ये बहुत मधुर प्रश्न है कोमल प्रश्न मधुर प्रश्न क्या अर्जुन इतने दिन से मैंने कहा क्या तुमने सुना एकाग्र चित्त के द्वारा किस चित्त के द्वारा ध्यान अंदर तरह इसी मेरे वचनों में ध्यान दिया तुमने चाहिए ध्यान त्वया एकाग्र चेतसा हे पार्था तुमने एकाग्र चित्त के द्वारा एतत् जो उपदेश मैंने दिया है ये श्रुतम क्या तुमने सुना कश्चित मन क्या तुमने सुना इसको एकाग्र चित्त के द्वारा अन्य मनस्क न होकर के क्या तुमने सुना या यहां बैठे अन्य चित्त पे तुम अभी तक हम्म। ऐसा बैठे वाले ये नहीं सुनते गीता अपनी कल्पना चल रही है ऐसा करूंगा तो ऐसा करूंगा अब यहां से निकलूंगा तो वहां जाऊंगा होगा ये जल्दी कर दे तो अच्छा होगा बहुत कुछ चलता है क्या एक चित्त का तुमने सुना यहां इसको सुना क्या सुना कच्चित अज्ञान समूह प्रसत थे धनंजय हे धनंजय धन जीतने वाले अर्जुन ते मैंने तब तुम्हारा कच्चित अज्ञान समूह प्रष्ट अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो बहुत था मैं मेरा परा मैं अर्जुन हूं ये मेरे दादा आदि हैं गुरु आदि जन हैं मैं मेरा लगा के दुखी हो रहे हो तो तो अज्ञान के द्वारा उत्पन्न वाला मोह यानी शरीर आदि में आत्मबुद्धि जो मोह है अज्ञान जन्य है मूला ज्ञान से जन्य है यदि आत्मा का ज्ञान होता शरीर आदि में आत्मबुद्धि ना होती आत्मा के अज्ञान से पैदा हुआ है कौन शरीर आदि में आत्मबुद्धि तुला ज्ञान है कच्चित अज्ञान समूह अज्ञान जन्य जो संदक मोह है विवेक है ते नष्ट क्या तुम्हारा वो नष्ट हो गया कौन अज्ञान जन्य मोह शरीर आदि में आत्मबुद्धि नष्ट हो गीता में शरीर आदि में आत्मबुद्धि का नाश करने को उपाय बताया हुआ है क्या नाश हो गई क्या यदि उपदेश सुना हो तो आत्मबुद्धि समाप्त तो होनी चाहिए नहीं सुना हो तो आत्मबुद्धि होगी मैं प्रकार से फिर समझाऊंगा यही भगवान की अभिप्राय है भगवान का अभिप्राय यही होता है यही कहना है इसलिए कहा हुआ है <clears throat> भाष्य में कहते हैं कच्चित माने किम जैसे किम प्रश्न होता है ना कच्चित भी एक प्रश्न है मतलब मधुर प्रश्न क्या अर्जुन तुमने सुना मैंने इतने समय तक मैंने उपदेश किया उपदेश करके क्या अवधारण किया निश्चय किया शरीराज में आत्मबुद्धि का अभाव निश्चय किया आत्मा में आत्मबुद्धि का निश्चय किया गीता में आत्मा में आत्मबुद्धि के उपदेश होता है तो कच्चित मान किम क्या वो किम का जो अर्थ होता है प्रश्न में ये कच्चित का भी अव्यय है वही आता है ये तत्त मया उत्तम ये जो मैंने कहा हुआ है ना श्रुतम क्या मैंने जो, जो कुछ भी कहा वचन ये तत्त वचन उत्तम श्रुतम तुमने सुना ये भगवान कहते हैं श्रवण ना भलार्थम सुनना मात्र नहीं यहां से सुनना यहां से फेंकना एक कान से सुनना दूसरे कान से फेंकना ऐसा तो नहीं किया तुमने क्या पूरा सुना कुछ ऐसे भी श्रोता है यद पठितम तद गुरु निवेदितम जो पढ़ा गुरु जी के निवेदन करके गए अपने पास कुछ नहीं वह चढ़ा दिया ऐसे भी होता कुछ लोग तो पुस्तक भी यहीं रख के जाते हैं बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले सुनने वाले ऐसे होते हैं ऐसे भी है हम्म। देखो सत्य बताऊं अभी तो आप लोग मुझे पढ़ाने आए हो आगे जाकर के पढ़ोगे अभी नहीं पढ़ोगे मेरे को पढ़ाओगे आपके बहाने से मैं पढ़ रहा हूं अपना पढ़ रहा हूं यार एक विद्यार्थी काशी में पढ़ने गया थोड़ी देर के बाद मैं पिता को पत्र लिखता है पिताजी आपकी कृपा से मैं कुशल मंगल हूं भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं आप लोग उनको सम्मान रहे और विषय लिखता है मन मैं इन दिनों गुरु जी को पढ़ाने जाता हूं विषय लिखा तो पत्र आया घर में पिताजी बहुत प्रसन्न हो गए मेरा पुत्र अभी अभी गया गुरु जी को पढ़ाने लग गया कितना विद्वान हो गया प्रसन्न हो गए दो वर्ष के बाद फिर पत्र लिखता है पुत्र पिताजी वही लिखता है मैं आपकी कृपा से आशीर्वाद से कुशल मंगल हूं इत्यादि लिखता है आखिर में लिखता है मैं आजकल पढ़ रहा हूं और पिताजी दुखी हो गए पत्र आने पर पहले तो पढ़ाता हूं बोलता था गुरु जी को भी किसको अब मैं पढ़ता हूं बोलता है तो दुखी हो गए पिता ने उसका उत्तर मांगा क्या बोला पहले ऐसा बोला था तुमने लिखा था आज इससे लिख रहे तो पुत्र लिखना है उन दिनों में मुझे कुछ जानता तो था नहीं मेरे बहानी गुरु जी पढ़ते थे अपना ग्रंथ तैयार करते थे गुरु जी अब मैं कुछ समझ में आने लग गया अब मैं पढ़ रहा हूं हाँ, हाँ। तो विद्यार्थी जो होता है पहले गुरु को पढ़ाने जाता है बाद में अपना पढ़ता है स्थिति ऐसी है तो आप लोग ऐसा नहीं होना हाँ, मुझे पढ़ाने के लिए नहीं आना यहाँ अपने आप पढ़ो पढ़ने के लिए आओ समझो तो कच्चित माने किम एतद मया उत्तम श्रुतम श्रवण अवधारितम क्या सुना मैंने श्रवण के माध्यम से तुमने निश्चय किया अवधारण किया यही है निष्कर्ष तात्पर्य यही गीता का निश्चय किया हे पार्थ का त्वया चेत था मैंने चित्त था चेत शब्द चित्त शब्द समान है मन का वाचक है क्या तुमने एकाग्र चित्त के द्वारा सुना किम्बा प्रमादितम क्या अथवा प्रमाद तो नहीं किया इस विषय में अन्य मनस का तो नहीं हो गए थे सर्वकाल को तुम इसे अंतर में तो नहीं फंसे थे बैठे बैठे अन्यत्र मन तो नहीं था तुम्हारा क्योंकि अन्यत्र मना भगम ना सर्व समय ऐसा बोलता है मेरा मन अन्यत्र गया था मैं सुना सुना मुझे मैं सुन नहीं सका ऐसा बोलता है ऐसी स्थिति है सामने बगलों को क्या बोल रहे थे अरे तुम भी तो यही थे अरे मेरा मन तो अन्यत्र था मैं शरीर यहां था मन अन्यत्र था मैं सुन नहीं सका मन सुनता है मनी देखता है मनी सुनता है मनसा श्रवती मनसा पश्यती इत्यादि है मन से ही सुनता है मन नहीं लगा तो सुनता हुआ नहीं सुनता तो तुमने एकाग्रचित सुना कहा या प्रमाद कर गए तुम इस विषय में जो तो मैंने कहा मेरा परिश्रम विफल तो नहीं हो गया भगवान खुश है प्रभाव तो नहीं किया इसमें कच्चित अज्ञान से यदि सुना हो तो अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए अज्ञान जन्य शरीर में आत्मबुद्धि की समाप्ति होनी चाहिए कच्छित अज्ञान सम्मोह अज्ञान जन्य सम्यक मोह है अनात्मा में आत्मबुद्धि शरीर में आत्मबुद्धि अज्ञान निमित्त समोह अज्ञान निमित्त है बोला ज्ञान निमित्त जो मोहत मोह सम्मोह है मान उत्पन्न तुला ज्ञान शरीर में आत्मबुद्धि विचित्त भाव वह वैचित्य धातु है ना समूह का तो विचित्त भाव विचित्रता मन उथल पुथल है सुन नहीं सका विचित्र भाव अविवेकता उसी का आता है समूह का अभिव्यक्ता अज्ञान जन जो अभिव्यक्त शरीर आत्मा आत्मूति स्वाभाविक जो अभिव्यक्त है ये कैसा है किसी को सिखाना नहीं पड़ता मैं मनुष्य को कहने के लिए सिखाने की आवश्यकता नहीं है मैं आत्मा हो कहने के लिए न जाने कितने वर्षों से सिखा रहे फिर भी सीख नहीं रहा शास्त्रीय तो संस्कार नहीं है अहम मनुष्य शास्त्रीय संस्कार लाने का प्रयास करें अभिव्यक्ता स्वाभाविक जो अभिव्यक्ता है तो प्रकृतिजन्य है अनपढ़ व्यक्ति मैं मनुष्य में बोलता है ग्वाला भी बोलता है किम प्राण से क्या नष्ट हो गया वो अज्ञान जन समूह तुम्हारे शरीर में बुद्धि नष्ट हो गई क्या यदि गीता सुननी हो तो नष्ट होनी चाहिए ना यदर्थ अयम शास्त्र सर्वा आयास अथवा ममत उपदेश तृत्व आयास प्रवृत्ता जिसके लिए प्रवृत्त हुआ था परिश्रम तुम्हारा परिश्रम मेरा परिश्रम किसके लिए था जो अज्ञान जन्य समूह था उसके नाश के लिए था ये कहते हैं यदर्थ जिस प्रयोजन के लिए शरीर में आत्मबुद्धि नाश करने के लिए अयम शास्त्र श्रवण गीता शास्त्र के श्रवण तुम्हारा परिश्रम तब आयास तुम्हारा परिश्रम सुन रहे हो इतने समय से और ममच उपदृष्टि तो सर मेरे उपदेश करने में प्रयास हुआ है प्रयत्न है मेरे में खर्च हुआ है ममच मेरा भी प्रयास है क्या है उपदेश तो उपदेश करने में प्रयास है प्रवृत्त दोनों के लिए हम प्रवृत्ति थे हम दोनों प्रवृत्त हुए थे उसको श्रवण और प्रवचन के लिए थे किसके लिए आत्मबुद्धि हटाने के लिए तो तय तब धनुजत का वो नष्ट हो गया क्या तुम्हारा वो जिसके लिए हमारा प्रयास था तुम्हारा भी था मेरा भी सुनने का प्रयास तुम्हारा बोलने का प्रयास मेरा तो दोनों प्रयास था सार्थक हो ऐसा क्या आत्मबुद्धि शरीर में नष्ट हो गया क्या ऐसा दो प्रश्न किया तुमने सुना इसको क्या प्रमाद कर दिया तुम्हारी आत्मा की नाश हुई कि नहीं हुई तो प्रश्न है इसका उत्तर अर्जुन देगा समय हो गया है ठीक है फिर देख लेंगे ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण